पिछली कक्षा में छठे अध्याय का चौबीसवां सूत्र हो गया था जिसमें बताया गया था कि स्थिर सुखम आसनम ये जो परिभाषा है ये जहां भी लगेगी वही आसन कहलाएगा कोई निश्चित आसन के लिए नियम नहीं है कि इसी आसन में हमें बैठना है कोई भी आसन हो सकता है आगे विवेक के लिए साधना के लिए जो क्रम है उसके बारे में पता है पच्चीसवां सूत्र बोली ध्यानम निर्विषय था ध्यान किसे कहते हैं तो निर्विषय मन निर्विषय जो मन होता है विषय से रहित होता है उस स्थिति को ध्यान कहते हैं विषय का मतलब है सांसारिक विषय जिसमें नहीं रहते और जैसा पीछे आपके सामने मैंने रखा था कि यहाँ संख्य दर्शन में समाधि शब्द नहीं है ध्यान ही है और वो सबसे ऊंचा शब्द बताया गया तो ये ध्यान समाधि का वाचक है रागोपहतिर ध्यानम निरोध इत्यादि शब्द तो यहां भी ये ध्यान शब्द उसी तरह से समझना चाहिए कि जब चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं पूरी तरह चित्त की वृत्ति मन निर्विषय हो जाता है मन में कोई विषय नहीं रहता उसको ध्यान कहते हैं समाधि की उच्च अवस्था असंप्रज्ञात तो ध्यानम निर्विषय मना इसकी व्याख्या अनेक तरह से भी करते हैं जब इस ध्यान को ध्यान के रूप में लेते हैं योग दर्शन वाले ध्यान के रूप में इसका ग्रहण करते हैं तब यहां ध्यान का मतलब लेते हैं एक विषय होना ध्यान मतलब एक विषय वाला क्योंकि प्रत्येक ही एकता का तो ही ध्यान अथवा एक विषय हम न भी लेते हैं तो निर्विषय का मतलब लेते हैं अन्य विषय रहे सब विषय का रहित होना नहीं एक विषय तो ध्यान में बना रहेगा जब हम इस ध्यान को योग दर्शन वाले ध्यान से मिला करके योग का सातवां अंग मानते हुए इसका अर्थ करते हैं तब बोल रहा हूं तब होगा निर्विषय मतलब अन्य विषयों को रोक कर अन्य विषयों से रहित केवल एक ही विषय तो एक विषय कहें या निर्विषय मतलब अन्य विषय से रहित उसको ध्यान कहते हैं ये उससे तालमेल है और नहीं तो विषय के आप पूर्णता से रहित हो जाना मन में कोई विषय नहीं रहता मन में कोई वृत्ति नहीं रहती है उसे ध्यान कहते हैं समाधि अब इसके ऊपर प्रश्न उठ रहा है ये आपने निर्विषय मन को ध्यान कहा मन की ऐसी स्थिति को ध्यान कहा तो मन निर्विषय हो या सविषय हो आत्मा को तो उससे क्या फर्क पड़ता है आत्मा तो असंग है मन विषय से युक्त हो चाहे विषय से रहित हो उससे आत्मा को क्या अंतर कर रहा है कि मन तो आत्मा के लिए है और आत्मा पे कोई असर आता नहीं आत्मा तो असंग है निर्गुण है फिर मन विषय वाला रहे चाहे निर्विषय रहे उससे फर्क क्या पड़ता है आत्मा को तो निर्लिप्त है असंग है आप ये जो इतनी सारी साधना करके ध्यान करवाना ये करना विषय रहित करना इसका प्रयोजन ही नहीं है कुछ तो रहे चाहे ना रहे आत्मा को क्या फर्क पड़ता है तो उसके लिए अगर कोई ऐसा कहे तो छब्बीसवां सूत्र देखिए उभय था अभी अविशेष चेत नैव उपराग निरोधा विशेष कोई कहे कि उभय था अभी अविशेषत्व दोनों ही तरह से आत्मा की दृष्टि से कोई विशेषता नहीं है इसमें सविषय हो चाहे निर्विषय हो आत्मा की दृष्टि से कोई भिन्नता नहीं होती ऐसा यदि कोई कहे तो उभय था अभी अविशेष दोनों ही दृष्टियों से ये तो समान है इति चेत ऐसा कोई कहे तो होता तो है नहीं बम ऐसी बात नहीं है कि आत्मा में अंतर नहीं पड़ता है मन के सविषय निर्विषय होने का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है कैसे तो कहा कि उसमें विशेषता होती है उपराग निरोधात विशेष पूर्व पक्षी कह रहा था आक्षेप वाला कि इसमें अविशेष होगा फिर तो नहीं विशेष होता है क्या एक में उपराग होता है और एक में निरोध होता है जब सविषय होता है जब मन सविषय होता है तो आत्मा में उपराग होता है उसका आत्मा रंगता है उससे जैसे स्फटिक मणि वाला उदाहरण था <clears throat> पास में कोई रंगीन चीज लाई जाए तो वो मणि उस रंग वाला हो जाता है तो आत्मा उपरक्त होता है जब जब मन में विषय आएगा आत्मा वैसा वैसा रंगेगा रंगा जाएगा और जब निर्विषय होगा तो उपराग नहीं होगा सब निरोध होगा वृत्तियों का निरोध होगा ये निरोध शब्द फिर आएगा ये भी समाधि की तरफ संकेत करता है तो कहा उभयता अभी अविशेष चेत कोई कहे कि दोनों ही तरह विरोध नहीं है विशेष नहीं है यानी सामान्य है तो बोले नहीं एक में उपराग होता और एक में निरोध होता ये विशेष है जिसका ध्यान नहीं लगा है जिसने मन को निर्विषय नहीं किया है उसमें उपराग होगा आत्मा उपरक्त होगा उस उस रंग से रंगा जाएगा और जिसने ध्यान लगा लिया है मन निर्विषय हो गया है उसमें निरोध होगा उपराग नहीं होगा उपराग से रहित होगा आत्मा अपने आप में स्थित होगा स्वस्थ होगा तो पीछे स्वस्थ की परिभाषा आई है तन्य वृत्त आग स्वस्थ उपराग उपशांत हो गया उसका निरोध हो गया वृत्ति निरोध हो गया उपराग होना बंद हो गया प्रभावित होना वो बंद हो गया ये विशेषता रहती है तो इसके ऊपर प्रश्न उठेगा कि आत्मा तो निसंग है फिर कैसे उपरक्त हो जाता है जब निरुद्ध है तब तो ठीक है विशेष हो गया लेकिन जब वृत्तियां रहती हैं मन में विषय रहता है तो आत्मा उपरक्त कैसे हो जाता है तो उसका उत्तर दिया जा रहा है अगले सूत्र से बोलिए निसंगे भी उपराधो अविवेका आत्मा निसंग है लेकिन फिर भी उसमें उपराध क्यों होता है अविवेक के कारण से अविवेक के कारण है अज्ञान कारण है तो निसंगे भी उपराणु अविवेका हो गया इतना पीछे उपराग को समझने के लिए मणि का उदाहरण दिया था ठीक है कुसुम पुष्प पास में लाया जाए मणि के तो उस रंग वाला हो जाता है तो क्या आत्मा में भी वैसे ही उपराग होता है जैसे मणि में होता है तो उसके लिए एक विशेष बात कही जा रही है वहां मणि के समान माना था लेकिन उस मणि के समान मानने में भी एक विशेषता है निसंगे भी उपरागो अविवेक अविवेक से हो रहा है क्या ये मणि के समान है कि कोई भी पुष्प पास में आएगा तो मणि को तो रंगना ही है उस उस रंग वाला मणि को बनना ही है मणि कुछ नियंत्रण नहीं कर सकती उसमें मणि का कोई बस नहीं चलेगा उस कांच का रथ का तो क्या ऐसे ही चित्त में जब जब भी विषय आएगा तो आत्मा को रंगना ही है उससे मणि के समान आत्मा का कोई बस नहीं चलेगा या आत्मा का भी कुछ लेन देन है वहां पर आत्मा का भी वहां पर कुछ कर्तृत्व है कुछ दायित्व है तो उसके लिए अगला सूत्र बोलिए अट्ठाईसवा सूत्र जपा नो इव नोपराग किंतु अभिमान जपा कहते हैं जपा का फूल होता है गुड़हल का जपा लाल लाल होता है और स्फटिक तो स्फटिक वो मणि हो गया तो पीछे कुसुम बच्चे मणि का तो वही बात है आपको बोले जपा और स्फटिक लाल लाल फूल और स्फटिक मणि के समान आत्मा में उपराग नहीं होता है जो पास में आएगा वो उपरक्त हो जाएगा ऐसा नहीं है तो जड़ वस्तु के समान नहीं है आत्मा उसमें और इसमें अंतर है तो क्या अंतर है तो उसके लिखा किंतु अभिमान ये मात्र उपराग नहीं है ये अभिमान है वो अपने को वैसा समझ लेता है एक तो उपराग है कि जड़ वस्तु रंग गई बस लेकिन मणि अपने को वैसा समझता नहीं है ये जो तो जड़ है तो आत्मा उपरक्त तो होता है उस उपरक्त तो होने में मात्र ये नहीं है कि जड़ के समान उसको उपरक्त होना ही है उसको वो अभिमान कर लेता है वो उसको अपना स्वरूप मान लेता है वैसा समझ लेता है ये यहां विशेषता है अब यूं उपराग होने लगे तो परमात्मा भी उपरक्त ही होगा दुनिया भर की सारी चीजें विषय वृत्तियां परमात्मा के अंदर हो रही हैं और परमात्मा सबको जान भी रहा है अच्छे बुरे सब कर्मों को परमात्मा यथावत जान रहा है अगर ऐसे ही प्रभाव पड़ता चेतन पे उपराग होता तो परमात्मा भी मेरे उपराग हो जाता मणि के समान ही परमात्मा ऐसा नहीं होता क्योंकि उसमें विवेक होता है वो अभिमान नहीं करता है वो भिन्नता देख करके रखता है ऐसा ही आत्मा के संदर्भ में है कि चित्त में वृत्तियां आई और हमें रंगना ही है मणि के समान ऐसा नहीं है ये शत प्रतिशत वैसा उदाहरण नहीं है लेकिन साथ समझाने के लिए ठीक है कि व्यक्ति जब रंगा जाता है तो ऐसे ही रंगा जाता है व्यक्तियों के अनुरूप विषयों के अनुरूप आत्मा भी उसकी वैसी ही रंगी रहती है वैसा ही बनता रहता है काम क्रोध लोग से युक्त रहता है लेकिन ये केवल रंगा जाना नहीं है ये अभिमान है वो उसको मान बैठता है ऐसा उसका भी अपना उत्तरदायित्व तो कर्तृत्व तो बन रहा है इसलिए कहा है जपा स्फटिक को ना उपरागर मात्र इतना नहीं है किंतु अभिमान है इसमें तो अभिमान कर रहा है मान बैठा है ये अविवेक के कारण से ये अविवेक का प्रभाव है जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना ठीक है गुलमोहर अलग होता है गुलमोहर तो उसमें वो भी लाल लाल पत्ते आते हैं फूल आते हैं पत्तियां छोटी छोटी होती है उसमें इमली जैसी वो अलग होता है और जपा का फूल अलग होता है लाल लाल होता वो भी लाल ही है बड़ा सा होता है उसके पत्ते बड़े होते हैं आगे कहा लगा पीछे लगा हुआ है हाँ, पीछे लगा हुआ है गुड़हल अभी फूल है उसमें लाल रंग का होता है गहरा लाल रंग का उसका पुष्प होता है तो अब ये जो अभिमान है इसको कैसे दूर करें प्रक्रिया क्या है साधना की तो पीछे भी बताया अभी फिर दूसरे शब्दों में संक्षेप से बोलना है उनतीसवां बोलिए ध्यान धारणा अभ्यास वैराग्यादि विधि तब निरोध वो जो विषय है उनका निरोध कैसे होगा इस अभिमान का निरोध कैसे होगा कि जो पीछे अभिमान का विषय मन में आ रहे हैं तो कैसे होगा ये रुकेगा कैसे तो ध्यान धारणा अभ्यास वैराग्य अधिनियम सम्मिलित होता है वहां भी ध्यान और धारणा कहा था साथ में आसन भी था प्राणायाम भी था स्वकर्म भी थे और अभ्यास वैराग्य भी वहां पर था तो मुख्य उपाय यहां चार बता दिए ध्यान धारणा और अभ्यास वैराग्य इत्यादि आदि लगाई दिया है इनके द्वारा इस अभिमान का निरोध होता है विषयों का निरोध होता है वृत्तियों का निरोध है यहां फिर निरोध शब्द है और इसमें ध्यान वही सबसे ऊंची स्थिति है तो पीछे भी जो निरोध शब्द आया छब्बीसवें सूत्र में ध्यान के संदर्भ में कि उपराग और निरोध तो उपराग सामान्य स्थिति में और ध्यान में निरोध होता है निरोध शब्द है यहां पर निरोध शब्द आ रहा है और ही तर्क वहां के वाले यहां भी लगेंगे तो इस दृष्टि से ये प्रतीत होता है कि ध्यान शब्द यहां पर समाधि के अर्थ में आया अगला सूत्र और बोले कैसे होगा ये अभिमान कैसे दूर होगा तो बोले जैसे वृत्ति को रोकने से होता है इसके लिए भी अगला सूत्र बोलिए लय विक्षेपयोग हो व्यावृत्या इति आचार्य आचार्य लोग कुछ लोग ये मानते हैं अन्य आचार्यों का सम्मानपूर्वक उल्लेख कर रहे हैं उनकी बात को ये भी स्वीकार कर रहे हैं इस तरह भी कह सकते हैं क्या लय और विक्षेप इन दोनों से व्यावृत्त हो जाता है लय से एक तो निद्रा वृत्ति ली जाती है उसमें हम लीन हो जाते हैं बोध नहीं रहता और विक्षेप का मतलब है बाकी वृत्तियां प्रमाण विपर्य विकल्प और स्मृति इन पांच वृत्तियों से और लय मतलब निद्रा इनसे व्यावृत्तिया निवृत्ति के द्वारा इनसे हट करके इससे भी हम अभिमान से हट सकते हैं विषयों से हट सकते हैं ये भी एक तरीका यू भी कह सकते हैं लेकिन ये भी कैसे होगा तो वही धारणा ध्यान अभ्यास और वैराग्य के द्वारा होगा इसलिए सूत्रकार ने तो उन्हीं को कहा कोई कहे कि वृत्ति निरोध कर देते हैं तो भी ध्यान की स्थिति हो जाएगी अभिमान रहित स्थिति आ जाएगी लय विक्षेप और व्यावृत्या आचार्य लय और विक्षेप की दूसरी व्याख्या भी की जा सकती है तो क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध ये जो पांच अवस्थाएं बताई इसमें मूड अवस्था है वो लय वाली अवस्था और विक्षेप में क्षिप्त और विक्षिप्त ये अवस्था है तो लय और विक्षेप यानी क्षिप्त मूड विक्षिप्त इनको हटा देने पर ये चीजें बनती हैं एकाग्र और निरुद्ध अवस्था बनती है एकाग्र भी हटाएंगे निरुद्ध अवस्था नहीं तो इन तीन को हटाएंगे तो एकाग्र भी वो भी समाधि होगी और निवृत्त ये भी समाधि है ठीक है यहां तक किन्हीं को तो पूछना है अभी जी नमस्ते ये जो स्फटिक मणि का जो उदाहरण दिया है कि के पास में जैसा जो रंग आएगा वो उसी रंग वाला हो जाता है तो स्फटिक मणि में तो वो जैसा है वैसा उसमें तो कोई परिवर्तन जड़ चीज होने के कारण तो होता नहीं है लेकिन ये जो चित्त में विकार आने के बाद जो आत्मा में अभिमान होता है इसी अभिमान के कारण जो है जन्म मरण के बंधन में पड़ता रहता है कह सकते हैं हाँ अच्छा पटिक अपने आप में वैसा रहते हुए भी रंगा हुआ दिखाई देता है ऐसा यहां भी होता है आत्मा अपने आप में वैसा ही है लेकिन वो वृत्ति सारूप्यता उसमें दिखती है वृत्ति सारूप्य में है जैसी वृत्ति वैसी ही वृत्ति वाला वो चेतन अपने को समझने लगता है मान भी लेता है होता नहीं है वो तो पृथक ही है लेकिन वैसा ही वो अपने को अनुभव करता है वैसा ही प्रतीत करने लगता है अभिमान भी हो जाता है ऐसा ही प्रतीत होगा बाकी एक विषय और उठा रहे हैं साधना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है साधना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है और गंगोत्री आप गए होंगे और गंगोत्री आदि पहाड़ जो है ना पहाड़ों के लिए कहा जाता है पर्वता दूरता रमिया पर्वत जो है दूर से ही बड़े रमणीय दिखाई देता है दूर से बहुत सुंदर दिखते हैं लेकिन पर्वतों पर रहना बड़ा कठिन है तो जीवन बड़ा कठिन होता है पानी लाना सामान लाना नीचे से ऊपर सारी चीजें करना चढ़ना उतरना तो पहाड़ दूर दूर से अच्छे लगते हैं पर्वता दूर तो रम्या दूर से ही अच्छा है निकट से अच्छे नहीं लगते रहना वहां कठिन होता है जीवन कठिन होता है गंगोत्री आदि में भी आसान नहीं है पर ठीक है चलो आपको वहां पर पसंद आता है तो व्यक्ति स्थान की खोज भी करता है घर में तो ध्यान लगता नहीं है घर में तो लगता नहीं है लग जाता तो है तो अच्छा है आपके लिए लेकिन अधिकांश की यह समस्या रहती है और जिस आश्रम में रहते हैं उसमें भी नहीं लगता अपने घर में फिर वो वहां से दूसरी जगह जाता है कहा जा रहे हैं कुछ दिन साधना के लिए जा रहा वही जिस आश्रम में रह रहे थे वहां क्या थी लोग तो वहां साधना के लिए आते हैं आप उसको छोड़ के साधना के लिए जा रहे हैं बोले जी यहाँ रहता हूँ तो व्यस्तताएं होती हैं कार्य रहते हैं लोगों का मिलना जुलना ये जो सब रहते हैं परिचित लोग रहते हैं एकांत नहीं मिल पाता है कहीं और चले जाते तो साधना के लिए ये ध्यान धारणा करने के लिए स्थान कौन सा हो तो उसके लिए एक बात बताई जा रही है जैसे आसन के लिए कहा था उन्होंने तो बिल्कुल वही बात इकतीसवां देखिए बोलिए ना स्थान नियम चित्त प्रसाद स्थान का कोई नियम नहीं तो यही खोजने लगे कि मेरे को तो ऐसा स्थान चाहिए तो मैं साधना करूंगा और ऐसा स्थान नहीं मिले तो फिर कैसे साधना करेंगे अगले जन्म में देखेंगे तो परमात्मा की कृपा होगी ऐसा स्थान मिलेगा तब करेंगे बिना साधनों के कैसे कर सकते ऐसे वृक्ष वनस्पति होने चाहिए ऐसे पहाड़ होने चाहिए ऐसी नदियां होनी चाहिए ऐसे पक्षी होने चाहिए वेदों में भी लिखा हुआ उपवरे च गिरिना संगमे च नदीना ध्या विप्रो अजाय उपवरे च गिरिना पर्वतों की कंदराओं में उनके नीचे तलेटी में या तो उनकी गुफाओं में और नदियों का जहां संगम हो रहा एक ही नदी नहीं इधर से आ रही है कहीं उधर से आ रही है पढ़ाओं में होता है ना कहीं एक नाला इधर से छोटा सा आके मिल रहा है एक यहां मिल रहा है कैसे खूब जल आ रही है पर्याप्त वहां बुद्धि से विद्वान बना जाता है योगी बना जाता है तो सामान्य जगह में थोड़ा ना हो सकता है वो जगह मिल जाए तो ठीक है नहीं तो आगे और या उसी में ही ढूंढने में लगा रहता है और उसी में वर्षों लगा रहे फिर मिल भी जाए तो उसके लिए धन इकट्ठा करने में लगाएगा बिना ऐसे कैसे होगी फिर वहां सुविधाएं भी चाहिए अपनी अनुकूल ठीक है कितने साल तक लगे अब खुद कमाया नहीं खुद के पास पैसा है नहीं तो कहां से दूसरों से देंगे इससे मांगा उससे मांगा थोड़ा ये देगा थोड़ा वो देगा आशा करके गए थे इतना दिया कम दे तो दिया दो बात सुना भी दी प्रतीक्षा करवाई कई दिन लग गए हम तो चाहते हैं तत्काल जाए और फटाफट देता जाए व्यक्ति जिससे लिया है वो भी कुछ बात करेगा कभी समय मांगेगा कभी कुछ करेगा ये फिर बंधन का कारण वो कुछ दबाव बनाएगा अच्छा आप गुरुकुल खोल रहे हो या तो ये आश्रम खोल रहे हो साधना कर रहे हो आप साल में एक बार तो सप्ताह भर हमारे घर में आ रहे हैं आप तो परोपकारी हैं हमारा भी उपकारी करेंगे ऐसे उनकी अपेक्षाएं भी जुड़ती है वो पैसे देते हैं लाखों दे देते हैं हमारे अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं असाधनानुचिंतनम बंधाय भरत ये कल्पना मन में कर लेना कि ऐसा होगा तो ही साधना होगी नहीं तो नहीं होगी साधना तो मन का विषय है बाहर का इतना थोड़ा है बाहर का बहुत कम प्रभाव होता है कैसा भी बाहर हो अंदर से अगर अपनी एकांत भीड़ में भी वो अपने को अकेला पाता है भीड़ में भी वो वैराग्य की स्थिति में रहता है चमक दमक में भी वो वैराग्य की स्थिति में रहता है उसको फर्क ही नहीं क्योंकि वो अंतर्मुखी बना हुआ है और जंगल में रहकर भी बहिर्मुखी है तो वृत्तियां वैसी की वैसी रहेंगी एकाग्र तो नहीं हाँ, आलम्बन की दृष्टि से थोड़ा ठीक है भी एकदम आलम्बन आते हैं व्यक्ति रोक नहीं पाता है वो थोड़ा एकांत में रहते हैं वहां तक ठीक है लेकिन इसी के लिए समय लगा देना इसी के लिए वर्षों लगा देना इसी में प्रयत्न करना तब तक वृद्धावस्था आ जाए बोले अब करूंगा साधना युवावस्था तो निकल गई अब रोगों ने कह दिया स्थान का कोई नियम नहीं है इसी जगह पर होगी पूरी पृथ्वी हमारे लिए साधना का स्थान बन सकती है कहीं पर्वत पे या नीचे समुद्र के किनारे नदी के किनारे या रेगिस्तान में कहीं पर भी जहां भी रहते हो वहां अपनी कुछ अनुकूलता बना ली गांव शहर में रहते हैं अब आ जाती है थोड़ा उसके लिए प्रयास कर लिया ध्वनि कम आए समय को ऐसा कर लिया बाकी इसके पीछे अपना समय शक्ति लगाना वर्षों लगाना आवश्यक नहीं जितना समय शक्ति लगाएंगे और लाभ उसका कम है वहां उसकी जगह उतनी शक्ति सामर्थ्य इधर लगा देंगे तो ज्यादा लाभ हो जाएगा पीछे एक बात बताई थी ना काल नियम वामदेव काल का भी नियम नहीं है कि इतने दिन में यह हो जाएगा न स्थान का नियम है न आसन का नियम है सांख्य दर्शन का योग कैसा है नियमों से रहित अनियम अनियम अनियम अनियम ठीक है तो न स्थान नियम चित्त प्रसार ऐसा योग है जो सब नियमों को हटा करके और उन्मुक्त कर देता है कैसे भी चलते कुछ चीजों में कुछ योग की परिभाषा यही मानते हैं कि बिल्कुल उन्मुक्त हो जाए कोई बंधन नहीं क्योंकि तो योग से तो स्वतंत्रता है कुछ भी नियम बंधन लगा दिया तो योग का हुआ हो कोई नियम लगा दिया तो योग का हुआ होगा स्वतंत्रता तो हो योग तो स्वतंत्रता लाता है कोई नियम नहीं यही योग नियम लगा के जो योग करेंगे तो वो तो असहज योग होगा जबरदस्ती होगा तो सहज योग सहज योग मतलब जिसमें कोई कष्ट नहीं हो सहजता से हो जाए स्वभाव का जो भोगना है वो भोगो जो खाना है वो खाओ जैसे जीवन बीताना है वैसे बिताओ बस योग कर दो ये सहज योग जैसे मन की इच्छा प्रवृत्ति हुई वैसा कर लिया ये है सहजता और मन को रोकेंगे तो जैसा कि इधर ये बताते रहते हैं हम तो विद्रोह करेगा वो तो स्प्रिंग की तरह से जितना दबाओगे उतना और ज्यादा उठेगा उनका तो स्वभाव ही स्प्रिंग का रोकने का नहीं सहज योग क्या है रोकना नहीं मन को दबाना नहीं दबाव वबाव कुछ नहीं अड़चन नहीं बिल्कुल सहज जो इच्छा हो करो जो विचारना है वो विचारो इसमें तनाव रहित स्थिति सहजता है मतलब कुछ चीजों में तो हमारे को सहज कर ही दिया धारणा ध्यान आसन तो लगवाते हैं अभ्यास में आगे लेकिन स्थान काल और आसन से तो मुक्त करिए तो न स्थान नियम चित्त प्रसाद हो गया पूछिए तो ये तो ठीक है स्थान का नियम तो नहीं है परंतु वस्तुतः हम यदि देखा जाए जो व्यक्ति कोई साधना के लिए स्थान ढूंढ रहा है तो उसमें जो अंतर्निहित यही अर्थ है कि चित्त प्रसाद के लिए ढूंढ रहा होता है क्योंकि जिस स्थान में वो वर्तमान में कर रहा होता है तो वहां उसकी चित्त की प्रसन्नता नहीं होती है तो उस पक्ष में तो स्थान को ढूंढना कोई वो वाली बात है ही नहीं यदि केवल चित्त की प्रसन्नता के आधार पर ही वो ढूंढ रहा है तो अब किसी ने अपनी चित्त की प्रसन्नता का आधार ही ये बना लिया हो मेरी चित्त की प्रसन्नता तो वहां बनेगी जहां इस इस तरह से होगा उस पर अपना कल्पित चित्त की प्रसन्नता बना ली चित्त की प्रसन्नता का मतलब है हमें प्र, कोई प्रतिकूलता नहीं आ रही हम अपने घर पे भी हैं वहां भी चित्त प्रसन्न है यदि हमारा हम विरोध नहीं है आपस में परिवार में सहजता से हम रह रहे हैं मन प्रसन्न है ऐसे व्यक्ति हैं जिनको देख के प्रसन्नता होती है सब कुछ मन में अच्छा लगता है वो चित्त की प्रसन्नता तो हम कम में भी कर सकते हैं और वो चित्त की प्रसन्नता हम बहुत अधिक करने लगे ऐसा हो ऐसा हो अब वो स्विट्जरलैंड या जहां पर भी बहुत अच्छे अच्छे दृश्य हैं या कश्मीर वहां तो जा ही नहीं सकते हमारी स्थिति नहीं जो जा सकते हैं जाते होंगे तो चित्त की प्रसन्नता का जो हम आधार बना रहे हैं तो चित्त की प्रसन्नता किस में कौन सा पैमाना कहते ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो इतना बड़ा हो तब जाके चित्त की प्रसन्नता होगी ये तो हमारी द्वारा कल्पित है चित्त की प्रसन्नता का मतलब चित्त में बाधा नहीं हो प्रतिकूलता नहीं हो ऐसी अगर हमारे को स्थिति मिल रही है हमारे को क्या चाहिए चित्त की प्रसन्नता के लिए साधक को क्या चाहिए चित्त की प्रसन्नता के लिए सामान्य चीज बिल्कुल सामान्य चीज उतने में भी वहां पर हो जाएगा और इसको दूसरे ढंग से देखिए कि जहां हम हैं वहां यदि हम अपने चित्त की प्रसन्नता बना लें तो वहां भी साधना हो जाएगी और अच्छी जगह पे हैं और हमने वहां से चित्त को उखाड़ लिया तो वहां भी नहीं होगी ये हमारे ऊपर है हम अनुकूलन कर सकते हैं उस जगह पर जैसा भी है मन को प्रसन्न रख लिया उसमें तो वो स्थान हमारे लिए साधना का स्थल बन जाएगा तो यूं भले ही अच्छा स्थान हो लेकिन एक दो व्यक्ति वहां ऐसे हो जिसके साथ हमारा नहीं है कल में तो वो विरोध हो रहा है विरोध हो रहा है तो चित्त की प्रसन्नता बिगड़ रही है और वो स्थान उसको अच्छा नहीं लगेगा इसलिए व्यक्ति एक घर छोड़ के दूसरे घर में चला जाता है अलग घर बना लेता है इत्यादि बातें होती तो अगर वास्तव में चित्त की प्रसन्नता के लिए वो है वो तो अल्प में भी हो जाती है चित्त की प्रसन्नता के लिए यूं कोई देखने लगे तो कोई सीमा ही नहीं है किसमें चित्त की प्रसन्नता होगी ये दुनिया भोगों में भाग रही है वो चित्त की प्रसन्नता के लिए तो है ये होगा तो चित्त की प्रसन्नता होगी क्या पैमाना है हमारी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही है उतना मात्र पर्याप्त हाँ ये तो क्या चाहिए परंतु ये चित्त प्रसन्नता ये सापेक्ष है आचार्य जी ठीक है मैं जो क्योंकि मान लीजिए प्रदूषण में रहता है कोई वहां तो चित्त प्रसन्नता होगी नहीं चित्त की बदल तो बदलने नहीं बदल ले तो लेकिन लेकिन अगर लेकिन अगर उस प्रदूषण में भी किसी को लग रहा है कि ठीक है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है तो साधना तो हो जाएगी वहां प्रदूषण से जो शारीरिक हानि होगी वो होगी लेकिन वो वहां रह सकता है साधना कर सकता है साधना के लिए चित्त की प्रसन्नता बहुत आवश्यक है स्थान की मुख्यता नहीं है जहां आत्मीय लोग हैं अपने मित्रगण हैं कैसी भी जगह है लगता है कि यहां चित्त प्रसन्न है इनके साथ में रहते हुए मेरा वहां साधना हो जाएगी क्या बाह्य जो संदर्भ घटना है ऊपर प्रभावित नहीं करती है कम है उसको प्रमुखता दे दी जाती है वहां समस्या होगी प्रभावित नहीं करती ऐसा तो कोई भी नहीं बोलता है प्रभाव पड़ता है इनका लेकिन कितना पड़ता है ये हमें देखना है कम पड़ता है अधिक पड़ता है हम उसको अधिक महत्व दें या मन को अधिक महत्व दें साधना के लिए स्थान को अनुकूल बनाने में अधिक श्रम करें या अपने मन को अनुकूल बनाने के लिए अधिक श्रम करें भिन्नता है अपने अंदर तो आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं वैसे कठिन लगता है लेकिन ये सरल है और बाहर का परिवर्तन योजना करना और उसमें तो श्रम आदि समय बहुत लगता है ये खर्चा भी बहुत लगता है तो मुख्य बात है चित्त की प्रसन्नता अब ये व्यक्ति व्यक्ति तय कोई कहां प्रसन्न होता है चलो उसकी अपनी स्वतंत्रता मान ली हमने उसको वहां जहां प्रसन्नता लगती है वो वहां के लिए करता करेगा ही वो करता ही है लेकिन यदि हम अपने कहीं छोटी सी जगह पर भी हैं अपने घर पर भी हैं और हमारे को वहां चित्र की प्रसन्नता है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरे को तो दूसरी जगह जाना है या तो कोई ऐसा जगह हो तलेटी गुफा और आश्रम वहां मैं करूंगा ध्यान यहां तो नहीं हो पाएगा ऐसा सोचने की जरूरत नहीं हमें यहां चित्त की प्रसन्नता है बस स्थान की दृष्टि से हमारे लिए पर्याप्त है साधना के और भटकने की यत्न करने की आवश्यकता नहीं जिज्ञासा हम्म, अच्छा, है जो साधक व्यक्ति है जिनकी चित्त प्रसाद अच्छा है तो क्या जो स्थानांतरण के लिए सोचेगा व्यक्ति साथ नहीं सोचेगा बिल्कुल तो बात आप जो कह रहे हैं वो बात कैसे अगर प्रारंभिक है तो अगर उसको चित्त की प्रसन्नता है कोई बाधा ही नहीं हो रही है तो वो इसमें अपना समय खर्चा नहीं करेगा नहीं प्रारंभिक हो या सिद्ध साधक हो फिर भी जो भी हो अगर चित्त प्रसाद अच्छा है हाँ। तो स्थान दूसरे स्थान के लिए क्यों सोचेगा सोच सकता है सोच सकता हाँ, अन्य इच्छाएं रहती हैं अन्य बातें सिद्धांत वहां काम कर जाते हैं उनसे पूछो कि यहाँ आप रह रहे हैं कोई बाधा है क्या आपको चित्त की प्रसन्नता में कोई बाधा है क्या नहीं चित्त की प्रसन्नता तो ठीक है यू नहीं लेकिन ये ये चीजें और ठीक है एक अपनी कल्पना कर ले तो बाधा क्या है ये पूछा जाए उनसे आपको यहां बाधा क्या है तो बताना मुश्किल हो जाएगा तो यूं ही कहेंगे नहीं यहाँ वो उस तरह से रमणीक नहीं है उस तरह से पेड़ पौधे नहीं है तो आपको बाधा क्या है उससे उससे बाधा क्या है आचार्य चित्त की प्रसन्नता बाह्य वातावरण पर निर्भर करती है अपने अंतर मन पर निर्भर करती है दोनों पर निर्भर करती है लेकिन अंतर मन पर अधिक निर्भर करती है कभी कभी कोई ऐसी स्थिति बाहर की भी अति विपरीत हो जाए तो वो भी एकदम प्रभावित करती है लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो अंदर का हमारा अधिक प्रभावित करता है बाहर का अधिक प्रभावित नहीं करता नमस्कार आचार्य जी कभी कभी अपने घर पे रहते हुए भी ध्यान की स्थिति के अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता जैसे कि ध्वनि प्रदूषण है मंदिरों में रेडियो बज रही है और ध्यान की समय हो गया और ध्यान मन में यह हो रही है कि ध्यान करूं जिज्ञासा उठ गई और ध्वनि प्रदूषण होने के कारण मन वहां से तो स्थान ढूंढना ही पड़ेगा ढूंढ सकते हैं अगर ऐसा है वहां चित्त प्रसन्न नहीं रह पा रहा है ध्वनि प्रदूषण है और भी कोई कारण है और चित्त प्रसन्न नहीं रह रहा है तो जबरदस्ती वहां साधना नहीं करनी चाहिए तो स्थान परिवर्तन के लिए सोचना चाहिए यही बात है अब हमने उसको अपना घर समझ लिया मेरे को यहीं रहना है मैं जाना ही नहीं है और चित्त प्रसन्न है नहीं वहां और सोच रहे हैं कि मैं साधना करूंगा तो कभी नहीं होगी साधना एक बार ऐसा रहा आचार्य जी मैं चार बजे ध्यान में बैठा तो बहुत अच्छा ध्यान लगा बहुत अच्छा ध्यान लगागा लेकिन गांव में मंदिर है मंदिर में जो रेडियो बजी और बहुत बड़ी आवाज आई जिसमें ध्यान हट गया और मन नहीं लगा और <laughs> तो मैं मंदिर में जाकर के फिर उनसे प्रार्थना की भाई थोड़ा शांत वातावरण में तो थोड़ी बार बजा दिया करो और को भी मौका थोड़ा दिया करो तो ऐसे ऐसे कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, है तो उसके अनुकूल वातावरण को ढूंढना पड़ेगा ही ढूंढना पड़ेगा और आपने दूसरा समाधान भी देख लिया ना उनको धीमे करवाया या भाई आप बाद में बजा लेना इत्यादि ठीक पहले से हाथ खड़ा बोलिए हाँ बोलिए आचार्य जी ये जो स्थिर सुखम आसनम जो है इसमें जो आसन शब्द है कि मतलब स्थिरता से बैठना आसन है लेकिन जो यहाँ नियम नहीं बना रहे हैं इसमें स्थिर सुखम आसन में नियम तो वहां पर भी किसी स्थासन आसन विशेष का तो नाम नहीं लिया है तो यहाँ पर नियम किस तरह से बनाया जा सकता है नियम नहीं है ये कह रहे हैं हाँ नहीं है नियम ना हाँ, किसी भी आसन पर बैठ जाओ कोई कहने लगे कि नहीं इसी आसन पर बैठो वो मन में सोच ले कि नहीं एक ही कोई आसन होगा कि उसी में सबसे ज्यादा होगा उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो कहने लगे नहीं इस आसन में समाधि लगेगी इस आसन में कभी भी नहीं जब तक पद्मासन सिद्ध नहीं होगा तब तक समाधि नहीं लगेगी ये पालक थी लगा के बैठ गए इसमें कोई समाधि लगेगी आप ऐसे कोई कह सकता कोई अंतर नहीं पड़ेगा उससे ओके नहीं स्वस्तिक आसन होना चाहिए सिद्धासन होना चाहिए वज्रासन होना चाहिए ऐसे कोई भी नहीं आप जितनी अनुकूलता से कोई भी एक आसन आपका सिद्ध होना चाहिए जिसमें आप देर से रह सके स्थिर सुखम आसन हम बन सके कोई भी हो साधना तो मन में होनी ये तो केवल शरीर की ऐसी स्थिति है जिससे कि बाधा नहीं आए साधना में ऐसा इसको रखना है बना के छोड़ दिया एक तरफ बस खत्म आग्रह जो बन जाते हैं नियम के उसको हटाया जा रहा है कि इसमें आग्रह करने की जरूरत नहीं है कुछ भी हो चिंता नहीं करनी तो न स्थान नियम चित्त प्रसादा हो गया बोलिए अच्छा, अजय जी जैसे ये फिजिकल कंडीशन तो होनी चाहिए और साथ में जैसे ये प्राइमरी बनाते हैं बोलते हैं वहाँ विशेष एक शक्ति की रहती है तो वहाँ ध्यान अच्छा लगता है और फिर इस प्रकार से जैसे हमारे पूर्वज लोग बड़े बड़े स्थान पर रहे जो महापुरुष हुए तो ये इनकी कुछ विशेष सोच रही होगी इसके पीछे सोच रही हो कि उनका चित्त वहां प्रसन्न होता है उनका बाह्य प्रभाव भी होता है उसका निषेध नहीं कर रहा हूं बाह्य चीजों का आप जो कह रहे हैं गुफा का पहाड़ का या कोई पिरामिड का उनका जो अपना प्रभाव होता है लेकिन उन प्रभावों के उनके रहते हुए भी अगर वहां चित्त प्रसन्न नहीं है एक वो स्थान है जो वैसे तो बहुत अच्छा है लेकिन वहां चित्त प्रसन्न नहीं है और एक वो स्थान है जो बाह्य दृष्टि से उतना अच्छा नहीं लेकिन अपना चित्त वहां पर प्रसन्न है आप दोनों में से किसको चुनेंगे बातचीत की है बातचीत की है ये विवेक यहाँ पर दिया जा रहा है जहां चित्त भी प्रसन्न हो बाहर की भी अनुकूलता हो अवश्य लेना चाहिए कौन मना कर रहा है उसका खंडन थोड़ा ना कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं लेकिन जब हमें निर्णय करना हो तो विवेक रहे कि यहाँ ये बाहर की चीज मुख्य नहीं है चित्त की प्रसन्नता मुख्य तो वो एक परिस्थिति में रह रहा है व्यक्ति बोले नहीं मेरे को तो यहीं रहना है जंगल में भले ही कितना परेशान हो रहा हो चित्त प्रसन्न रह नहीं पा रहा है वहां स्थितियां ऐसी हैं बोले नहीं साधना तो यहीं करूंगा तो नहीं होगी साधना केवल ये ध्यान देना जा रहा है मुख्यता है चित्त की प्रसन्नता की जहां चित्त प्रसन्न है साधना हो सकती है क्योंकि साधना चित्त की ही होती है कि बाहर तो केवल बाह्य रूप है इसका भूमिका मात्र है मूल साधना तो अंदर ही होनी है योगाश्चित वृत्ति निरोध मुझे फिजिकल प्रॉब्लम आती रहती है मच्छर ज्यादा काट रहे हैं गर्म जाता है उसका उपाय कर लीजिए मच्छरदानी लगा लीजिए गर्म ज्यादा है तो ठीक है पहाड़ी पे जाना है तो एक वो तरीका है और आजकल अन्य साधन भी उपलब्ध है वहां पर कर जैसे बोलते हैं पहाड़ी की तरफ ऑक्सीजन ज्यादा रहती है औषधि का ज्यादा एक वातावरण रहता है उसका कोई प्रभाव ये कहा जाता है ठीक है जंगल है वहां पर ठीक है पेड़ पौधे हैं ऑक्सीजन है लेकिन पहाड़ों पे जितना ऊपर जाते हैं एक तो वायु विरल हो जाती है डायल्यूट हो जाती है छिरी छितर जाती है और ऑक्सीजन भी कम हो जाती है ऑक्सीजन का प्रतिशत ऊपर कम होता है पहाड़ों के ऊपर ऑक्सीजन का प्रतिशत कम होता है और और ज्यादा जाते हैं तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना पड़ता है एवरेस्ट आदि के जहां ऊपर थक जाता है आदमी जल्दी सांस जल्दी चढ़ता है ऑक्सीजन उल्टा कम होती है वहाँ हर्बल क्षेत्र औषधि का वातावरण बन जाता हूँ लेकिन एकाग्रता वहां ज्यादा बनती है ड्यू ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑक्सीजन की कमी से एकाग्रता बनती है उल्टा है गुफाओं को पसंद करते हैं तो यहां बहुत एक मेरा मन लगता है और गुफा में खिड़की भी नहीं है कुछ भी नहीं है अंदर बैठा है हवा भी का आवागमन भी नहीं है मूल कारण है वहां ऑक्सीजन कम होती है ऑक्सीजन कम होती है तो मस्तिष्क की सक्रियता कम होती है और वो उसी को सोचता है मेरी एकाग्रता बन रही है कि भाई ये एकाग्रता ये आंतरिक एकाग्रता नहीं है तो कहीं भी पैदा करना और इसीलिए कई साधकों को कहता है कि मैं कमरा बिल्कुल बंद करके बैठते हैं ठहकाना बनाते हैं छोटी सी खिड़की रखते हैं और उसको भी बंद कर देते हैं प्रकाश भी बंद कर देते हैं और ऑक्सीजन की न्यूनता वहां पर रहती है और यहां आते ही थोड़ी देर में मेरा मन बहुत शांत हो जाता है ठीक है ऑक्सीजन की कमी होगी तो मस्तिष्क की सक्रियता कम होगी और लगेगा वृत्तियां नहीं उतरेंगी अपने आप इसलिए पहाड़ों पर जाते ही लगता है वो बहुत मन एकाग्र है नीचे आते ही चंचल हो जाता है चंचल क्या होता है मन सके बुद्धि सक्रिय हो जाती है ऑक्सीजन की पर्याप्तता रहती है अब जिन्होंने अध्यात्म को यही समझ रखा है कि बस वृत्तियां रुक रही हैं यही ध्यान है यही साधन है उनको और संस्कारों से कोई लेना देना नहीं ध्यान लग रहा है हमारा भाई एकाग्रता हो रही है वृत्तियां रुक रही हैं कैसे रुक रही हैं कुछ उसको कोई लेना देना नहीं ध्यान तो समझा ही नहीं है पूरी तरह से होता क्या है ध्यान समाधि होती क्या और ईश्वर प्राप्ति होती कैसे बस केवल इतना पकड़ लिया कि वृत्ति रुद्ध तो होना चाहिए न आप तदरूपता पंकज वृत्तियां रोकनी चाहिए ठीक है कैसे रोकनी चाहिए ये पता नहीं है और जो पहाड़ों पर साधु संत रहते हैं जिनको साधु संत बोलते हैं या योगी कहते हैं उनमें नशे की आदतें होती हैं व्यापक है क्यों बम बम बोले बूटी खाते हैं वो हरी हरी भांग पीते हैं क्यों शिव बूटी है शिव के समान ध्यान लगे जाता है ठीक है आज के नशीले लोग भी ऐसा ही करते हैं नशेबाज जो होते हैं वो भी ध्यान लगाते हैं आपके उसमें अंतर क्या है प्रवृत्ति में अंतर क्या है वैसे ध्यान लग नहीं रहा है लेकिन इसको खाने के बाद में ध्यान बहुत अच्छा लगता है ऐसे ध्यान का करोगे नहीं जी ध्यान लगता है इससे वो तो ध्यान का मतलब ही ये समझ रखा है बस इतना ध्यान हम निर्विषय होना भाई निर्विषय तक कहां जा रहे हैं अभ्यास और वैराग्य से निर्विषय होना है इन उपायों से थोड़ा निर्विषय होना है अब देखना कितने साधक मिलेंगे अंदर रहेंगे पहचानेंगे नीचे बंद करके सब कुछ हवा घुसना जाए जैसे हवा के साथ साथ विचार आ जाएंगे तरंगे आ जाएंगे भ्रांति है जीते रहेंगे ऐसे ही लग, करते रहेंगे कि हमारा ध्यान लग रहा है एकाग्रता होगी ज्ञान पूर्वक रोका जाता है मस्तिष्क को सक्रिय करते हुए रोका ये तो निद्रा में भी होते हैं ऐसे लोग सोते भी रहते हैं ऐसे लंबे लंबे ध्यान करने वाले सोते रहते हैं लंबी लंबी एकाग्रता से जागरूकता अवश्य रहनी चाहिए नहीं तो समाधि और समाधि सुषुप्ति मोक्ष सुषुप्ति और समाधि में अंतर क्या है फिर तो यंत्रों से भी बन जाती है और आज के वैज्ञानिक भी कहते हैं कि भाई आप ध्यान के समय ऐसी तरंगे उठती हैं और अल्फा बीटा थीटा तरंगे बोलते हैं कि ये तरंगे होती हैं उसमें बहुत आनंद आता है अलग अलग तरंगे निकलती हैं वो आजकल यंत्रों से देख लेते हैं तो सुखद अनुभूति होती है कुछ आंतरिक श्राव होते हैं अंतर श्राव निकलते हैं वो मॉर्फिन की तरह से काम करते हैं ध्यान के समय में तो दुख की निवृत्ति हो जाती है और आनंद की अनुभूति होती है मस्तिष्क से निकलते हैं श्राप वो बाहर से दे देते हैं उसको इंजेक्शन से बोले आप इतनी समाधि लगा करके ध्यान करके वो स्थिति बनाते हो इंजेक्शन से दे देते हैं या आप तरंगे पैदा करते हो विचार करके हम इलेक्ट्रोड लगा के और यंत्रों से वो तरंगे आपको पैदा कर देते हैं व्यक्ति को लगेगा मैं समाधि में हूं दूस में बहुत प्रयोग हुआ जरूरत ही नहीं है इतनी तपस्या की साधना की अगर यही स्थिति ध्यान है और यही हमारा लक्ष्य है तो ये नशीली दवाओं से होता है चाहे प्राकृतिक रूप से हो चाहे बाहर से ले लो ये तरंगे हैं यंत्रों से पैदा कर दी जाती हैं आजकल आप पहुंच जाओगे उसी में उसी समय कैसा भी हो व्यक्ति दिन में जैसा भी व्यवहार करना है करें यम नियम के विपरीत और वहां जाकर के बैठ जाए और आपको अच्छा लगेगा वो ध्यान का स्वरूप ही ऐसा हो गया ध्यान मतलब बहुत अच्छा लगे बहुत एकाग्रता लगे वो वो है लेकिन कैसे अभ्यास और वैराग्य के बाद में जो होती है वो संस्कारों को क्षीण करने पर होती है वो ऐसा ध्यान और एकाग्रता मुक्ति तो नहीं देगा एक भ्रांति पैदा करेगा कि हमारा ध्यान लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और इसीलिए लोग पहाड़ों को पसंद करते हैं इसीलिए गुफाओं को पसंद करते हैं प्राणायाम के बाद भी जो तत्काल एकाग्रता बनती है उसमें भी कारण यही है कि ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पर हम प्राण को रोक देते हैं उसी समय एकदम से अंतर लगेगा मस्तिष्क के अंदर की एकाग्रता आ है ठीक है हम उसके बाद में श्वास प्रश्वास लेते हैं लेकिन एक बार चंचलता से हटा के एकाग्रता पे ले आए मस्तिष्क निष्क्रिय होता है अवसादित होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाए ज्यादा तो आदमी झूमने लगेगा नशे की तरह से से चला नहीं जाएगा ढंग से नियंत्रण नहीं रहेगा उसका अपने तो ऐसी अनुकूलता बनानी है जिनको बना सकते हैं बाह्य चीजों का भी प्रभाव पड़ता है लेकिन मुख्य चीज है चित्त की प्रसन्नता इसमें न स्थान नियमा चित्त प्रसाद ठीक है बोलिए पहले से देना चाहिए और किन्हीं को पूछना जी पहाड़ों पर तो पेड़ बहुत होते हैं तो ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा रहती है पहाड़ अगर नीचे के हैं तो वहाँ पेड़ बहुत रहते हैं अधिक ऊपर जाएंगे तो पेड़ कम हो जाते हैं पेड़ नहीं मिलेंगे जैसे यहाँ पर है ऊपर ऊपर भी पेड़ है ये अधिक ऊंचा नहीं है और ऊंचे जाओगे आप पहाड़ी पे चले जाओ ज्यादा ऊंचे आपको बड़े पेड़ नहीं मिलेंगे छोटे छोटे मिलेंगे और कहीं तो आगे ऊपर जाओगे तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे तो गुफाएं तो थोड़ी नीचे भी रहो ना तो नीचे कौन मना तो नहीं कर रहा है और आध्यात्म में आकर्षण होता है ऐसी कोई गुफा मिले उन्होंने ऋषि लोग गुफाओं में किया करते थे गुफाएं किसकी बनती है चट्टानों की है हाँ, ये आजकल के कमरे भी गुफाएं हैं सीमेंट की बनी है ये भी तो चट्टान ही है चट्टान को पीस के बनाया सीमेंट कर लिया ये भी चट्टान बन गई आप अनुकूलता रख लो क्योंकि नियंत्रित है यहाँ स्थिति की प्रसन्नता होनी चाहिए बस लेकिन ये तो पाश्चात्य लोगों से आया हुआ है ना मकान भवन इसमें तो योग नहीं हो सकता भारतीय शैली होनी चाहिए झोंपड़ी होनी चाहिए या प्राकृतिक ईश्वर प्रदत्त होनी चाहिए मानव निर्मित में थोड़ा ध्यान हो सकता है दूषित है पाश्चात्य संस्कृति और ज्ञान का प्रभाव आ गया इसलिए ध्यान नहीं हो सकता है बोलिए अध्यांतर प्राणायाम में तो ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा होती है नहीं वो थोड़ी देर के लिए होती है जब हमने रोक दिया अब उसमें खर्च होना शुरू हो जाएगा उन्हें भर के बैठ गए अब धीरे धीरे खर्च हो रहा है काम में आ रही है फेफड़ों में क्या चल रहा है जो वायु में ऑक्सीजन थी वो रक्त में चली गई रक्त के कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आ जाएगी करते करते करते और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी और एक ऐसी स्थिति आएगी कि वहां से ऑक्सीजन लेना संभव नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन इधर से उधर रक्त में नहीं जा सकती दबाव बदल जाएगा तो वहां भी कोई होगा वहां देरी से होता है आभ्यंतर प्राणायाम में देरी से होगा बाह्य प्राणायाम में यह स्थिति शीघ्र आएगी लेकिन ऑक्सीजन की कमी तो हम कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में बढ़ रही है मस्तिष्क में कार्बन डाइऑक्सीजन की कमी आ रही है सीमा तक लेकिन नियंत्रित रूप से हम उसका प्रयोग करते हैं तो चंचलता से हटा के एकाग्रता कुछ देर के लिए ले आते हैं अब फिर हम उसको बढ़ा लेते हैं एक बार शुरू हो जाए ना प्रारंभ होना कठिन होता है एक बार शुरू हो जाए फिर तो चल पड़ता है तो शुरुआत करने के लिए प्राणायाम हमारे को बहुत प्रेरित करता है अनुकूलता देता है फिर आगे तो हम चला लेते हैं गाड़ी एक बार धक्का लग गया जोर लगा के फिर चल पड़ते हैं उसका जी अंदर की वृत्तियों पर भी तो प्रभाव पड़ता है उससे वो मतलब क्षीण होती है हाँ होती है वही तो कह रहा हूँ वृत्तियाँ क्षीण होती हैं कैसे होती हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने से वृत्ति हमको तो मतलब चित्त प्रसादन से प्रयोजन है हाँ, तो इसीलिए चित्त प्रसादन बाद में भी कर लेंगे इतना कुछ उपयोग तो किया ही जाता है प्राणायाम का मैं तो केवल समानता बता रहा हूँ आपको निषेध तो ना कर रहा हूँ कि प्राणायाम नहीं करना चाहिए तो फिर जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं उन, उनके अंदर मतलब ये दोष नहीं देखा जाना चाहिए वहां भी हो सकता है दोष क्यों नहीं हो सकता उनको वही अच्छा लगता है वो इस, उसके इतने आदि हो जाते हैं कि नीचे आते ही तो वृत्तियां खराब हो जाती हैं और दोष किसको देते हैं बोले यहाँ सांसारिक लोग रहते हैं इसलिए यहाँ वृत्तियां खराब हो जाती हैं पहाड़ों पर सांसारिक लोग नहीं रहते इसलिए वहां वृत्तियां शांत रहती हैं ये परिस्थिति के कारण से हमने ऐसा बना लिया है अंदर हमने क्या परिवर्तन किया संस्कार हमारे पे अपने पे क्या डाले ज्ञान की दृष्टि से हमने क्या परिवर्तन किया वो नहीं है तो ये तो सब बार बार का चलता रहेगा ठीक है तो न स्थान नियम है चित्त प्रसादा चित्त की प्रसन्नता होनी चाहिए तो स्थान का कोई नियम नहीं है साधना आगे देखिए अब कुछ प्रकृति की बात और फिर से ले रहे हैं सैद्धांतिक बात है बत्तीसवां सूत्र बोलिए प्रकृते है आद्योपादानता शाम कार्यत्व श्रुते है प्रकृति की आद्योपादानता है आद्य कहते हैं आदि में होने वाली सबसे प्रमुख और प्रथम उपादानता है यानी उपादान कारण है वो सबसे पहला उपादान कारण प्रकृति है बाद की चीजें भी उपादान कारण बनती हैं अब मूल प्रकृति से जो महत्व बना अहंकार बना तनमात्राएं बनी उपादान कारण तो वो भी है आगे की चीजों के लेकिन वो आद्य उपादान का नहीं है वो मध्य की है क्योंकि उसका भी कोई ना कोई उपादान कारण है आद्य उपादान था वो कि जिसका कोई और उपादान कारण नहीं हो वो आद्य प्रथम मूल उपादान कारण था वो किसकी है तो कहा प्रकृति है आद्य उपादान था तो अन्यों की क्यों नहीं है तो बोले अन्य शाम काजियत तो श्रुत है अन्य जो उपादान कहे जाते हैं उनका कार्यत्व भी तो सुना जा रहा है कि वो और चीजों से बनते हैं मिट्टी की उपादानता है घड़े की दृष्टि से ईट की उपादानता है भवन की दृष्टि से लेकिन ईट आद्य उपादान नहीं है क्योंकि ईट भी बनती है उसका कार्य तो सुना जाता है तो उसका भी कोई उपादान कर है तो आद्य उपादानता प्रकृति की मूल प्रकृति की है और अन्यों का तो कार्यत्व तो सुना जाता है इसलिए उनकी आद्य उपादानता नहीं उपादान तो हो सकते हैं वो लेकिन आद्य उपादान नहीं है बोले अच्छा आप प्रकृति की आद्य उपादानता कह रहे हो ये आत्मा क्यों नहीं उपादान हो सकता इस संसार का आत्मा की उपादानता है या नहीं है आत्मा मतलब जीवात्मा और परमात्मा दोनों का ग्रहण कर सकते हैं तो बीच में एक बात भी आई थी पहले काफी पहले कि शरीर बना है तो इसमें आत्मा भी तो है इस दृष्टि से कहेंगे कि शरीर की तत्वों से बना है तो उसमें आत्म तत्व भी है तो आत्मा भी उपादान के रूप में है आत्मा उपादान रूप में नहीं है शरीर का उपादान आत्मा नहीं है और इस संसार के संसार का उपादान ब्रह्म परमात्मा भी नहीं है ये तो प्रकृति की ही आद्योपादानता है प्रकृति ही बस मूल कारण है ब्रह्म से ये नहीं बना है जैसा कि अद्वैत वाले मानते हैं वो प्रकृति को नहीं मानते प्रकृति के आद्योपादानता नहीं ब्रह्म ही उपादान है अभिन्न निमित्त उपादान कारण है कि ब्रह्म इस जगत का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है दोनों वो अकेला ही अभिन्न यानी एक ही निमित्त और उपादान दोनों है घड़े का निमित्त कारण कुम्हार उपादान कारण मिट्टी ये भिन्न भिन्न है घड़े का उपादान और निमित्त कारण भिन्न भिन्न है भिन्न निमित्त उपादान कारण है लेकिन ये जो संसार है इसमें ब्रह्म के कारण है कैसा अभिन्न निमित्त उपादान कारण है निमित्त कारण भी वो है और उपादान कारण भी वो है ऐसा मानते हैं तो संख्या दर्शनकार स्पष्ट लिख रहे हैं आगे सूत्र देखिए तैतीसवां बोलिए नित्यत्व भी न आत्मनो योग्यत्व अभाव मूल प्रकृति आदि उपादान थी और उसकी नित्यता थी ठीक है जो आदि उपादान होगा जिसका कोई उपादान कारण नहीं वो नित्य होगा तो बोले आत्मा भी तो नित्य है जीवात्मा परमात्मा ये भी तो नित्य है ये भी तो उपादान कारण हो सकते हैं तो कह रहे हैं नित्यत्व भी न आत्मना आत्मा यदि भी नित्य है लेकिन उसकी उपादान कारणता नहीं है क्यों नहीं है योग्यत्व अभाव वो उपादान कारण बन ही नहीं सकता उसकी योग्यता ही नहीं है सामर्थ्य ही नहीं है ये सिद्धांत वैदिक धर्म से और दर्शनों से बिल्कुल विपरीत है कि चेतन ब्रह्म ही उपादान के रूप में इस संसार के रूप में बन गया है ब्रह्म आत्मा चेतन तत्व उपादान बन ही नहीं सकता उसकी योग्यता ही नहीं है सामर्थ्य ही नहीं है तो प्रकृति ही बनेगी तो उसका कारण है कि प्रकृति जो है वो परिणामी नहीं है इसलिए वो बदल जाती है और आत्मा और परमात्मा परिणामी नहीं है इसलिए वो कार्य रूप में नहीं आ सकता तो नित्यत्व भी नित्यत्व होते हुए भी आत्मा का उपादान कारणत्व नहीं है क्योंकि उसमें योग्यत्व का अभाव योग्यता ही नहीं है तो बोले नहीं फिर भी कुछ लोग मानते हैं बड़े तर्क देते हैं कि नहीं इसकी आत्मा भी इसका उपादान कारण आत्मा ही उपादान कारण है ब्रह्म ही उपादान कारण है तो ऐसे लोगों के लिए उत्तर दिया जा रहा है चौथे सूत्र बोलिए श्रुति विरोधात न उतर्क अपसदस्य आत्मलाभ श्रुति का विरोध होने से अगर कोई ऐसा मानता भी है कि ब्रह्म से ही या चेतन आत्मा से ही ये सारा बन गया है वो उपादान कारण है तो उसको ये श्रुति से विपरीत बात है श्रुति इसका समर्थन नहीं करती है तो श्रुति का विरोध होने से न का सदस्य जो कुतर्क के द्वारा निश्चय कर रहा है न आत्मलाभ है उसको आत्मलाभ नहीं हो सकता वो मानता रहे आत्मा साक्षात्कार नहीं होगा आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी भले ही ब्रह्म को इतना ऊंचा बना लिया हो कि उसी से बन गया है ये सब कुछ उसको आत्मलाभ तो नहीं होगा क्योंकि वो कुतर्क कर रहा है और ऐसा तर्क से वो सिद्ध भी कर दे लेकिन श्रुति विरोध से है तो उसको तर्क को तर्क नहीं कहते वो कुतर्क हो जाता है नए दर्शन में भी स्वीकार किया है तर्क को बहुत महत्व देते हैं हनुमान को बहुत महत्व देते हैं लेकिन यदि वो शब्द प्रमाण के विपरीत है तो वो तर्काभास है तर्क नहीं है वास्तव में गलत निर्णय करता है तो श्रुति विरोध है हाँ, श्रुति का विरोध होने से ऐसे व्यक्तियों का जो आत्मा को ही उपादान कारण मान लेते हैं उनका वो कुतर्क पे आधार पे चलने वाले उनको ना आत्मलाभ आत्मलाभ तो नहीं करता आध्यात्मिक उन्नति तो नहीं होगी और कुछ चलता रहेगा नहीं न कुतर न श्रुति विरोधात न का सदस्य आत्मनाभ तो कुतर्क से अपनी बात को रखता है अपने ढंग से तर्क कर रहा है लेकिन है कुतर्क कुतर्क का आधार ही है कि वो श्रुति के विपरीत जा रहा है इसलिए वो मान्य नहीं हो सकता आगे चलें पैंतीसवां सूत्र पीछे प्रकृति की उपादान उपादानता बताई थी तो प्रकृति तक ही प्रधान तक ही क्यों रुके और पीछे क्यों नहीं जाए ये विषय पहले भी आया था यहाँ भी इस बात को रख लें किस्मत बोलिए पारंपरिय प्रधान अनुवृत्ति भी अनुभव परंपरा होने पर भी परंपरा किसकी कार्य कारण की इस कार्य का ये कारण अब ये जो कारण है ये भी कार्य है बनाए तो इसका जो कारण है फिर उसका भी जो कारण है ऐसे ये जो कार्य कारण की परंपरा है हम परंपरा तो मानते ही हैं क्योंकि एकदम जो चीज बनी है बस उसका पीछे ही एक कारण हो ऐसा नहीं अनेक प्रक्रियाओं से गुजरते गुजरते इससे ये बना इससे ये बना इससे ये बना इससे ये बना न जाने कितनी पांच दस बीस पच्चीस परंपरा चलते चलते चलते कोई चीज बनी है तो ये परंपरा पीछे होते हुए भी परंपरा है लेकिन फिर भी प्रधान अनुवृत्ति प्रधान की अनुवृत्ति विद्यमानता वहां सबसे अंत में रहेगी वो ही है इसके पीछे और कुछ नहीं है कैसे हमें यह निष्कर्ष निकालना है अणु और अणु के समान जैसे किसी पदार्थ का हम विखंडन करते जाते हैं करते जाते हैं तो सबसे छोटा कण उसका कौन सा माना जाएगा जो उसका अणु होगा परमाणु होगा वही उसका सबसे छोटा कण है उससे छोटा कण नहीं माना जाता ऐसे ही इस संसार का प्रकृति का विघटन करते करते करते जो मूल चीज है वो प्रधान है मूल प्रकृति आगे देखिए अगला सूत्र इसी प्रकृति के बारे में मूल प्रकृति के बारे में कह रहे हैं बोलिए सर्वत्र कार्य दर्शनार्थ विभुत्व इस प्रकृति का विभुत्व है विभुत्व मतलब व्यापकत्व है ये परमात्मा की तरह विभुत्व नहीं असीम नहीं ससीम क्यों इसको विभुत्व माना है ये सापेक्ष दृष्टि से कथन है तो विभु क्यों माना है सर्वत्र कार्य दर्शन जहां देखते हैं वहां इसका कार्य नजर आता है हम जहां जा सकते हैं जहां हमारी गति है वहां सब जगह प्रकृति के कार्य दिखाई देते हैं यहां भी तो पृथ्वी पर कहीं भी चले जाओ प्रकृति के कार्य दिखाई देते हैं कार्य द्रव्य और वेग से रॉकेट से यहां से बाहर चले जाए तो वहां भी हमारे को प्रकृति के कार्य दिखाई देते हैं दूरबीन से देखें तो वहां भी प्रकृति के कार्य दिखाई देते हैं लोक लोकांतर बने हुए तो हमारे हमारे को तो सब जगह ही कुछ न कुछ कार्य दिखाई देता है कोई ऐसी जगह है जहां प्रकृति का कार्य नहीं दिखाई देता हो क्या हम किसी ऐसे स्थान पर पहुंच सकते हैं या पहुंचे हैं कि यहां अब प्रकृति कुछ नहीं है प्रकृति का कोई कार्य नहीं है ऐसी कोई जगह है कुछ ना कुछ सब जगह है अंतरिक्ष में भी प्रकाश तो आ जाएगा छोटे छोटे कण भी हैं वहां पर दूर दूर पर तो कुछ ना कुछ कार्य सब जगह देखा जा रहा है हम हमारी जहां तक पहुंचे वहां सब जगह देखा जाता है इसलिए प्रकृति का विभुत्व कहा गया तो सर्वत्र कार्य दर्शना विभुत्व लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है परमात्मा की तरह का विभुत्व नहीं है अगर ऐसा अर्थ ले लेंगे ये तर्क फिर कुतर्क हो जाएगा श्रुति का विरोध हो जाएगा पादों से विश्वाभूतानी कृपादस्याम वितम देवी यत्र विश्वम एक निगम ये इसके छोटे से भाग में श्रुति भी हमारे साथ में है इधर विभुत्व भी दिख रहा है तो ये विभुत्व सापेक्ष है बहुत विस्तृत है बहुत विस्तृत है कोई सीमा ही नहीं है हमें कोई सीमा ही नहीं पता लग रही है हमारी छोड़ो वैज्ञानिकों को ही नहीं लग रही है तो सर्वत्र कार्य दर्शनार्थ विभुत्व अगला सूत्र सैतीसवां बोलिए गति योगे अपि आद्य कारणता अहानि अणुवत बोले कि ये जो आप आद्य हेतुता कह रहे हो पीछे कहा था प्रधान की आद्य हेतुता सबसे पहला वही है ठीक है लेकिन उसमें परिणमन होता है या नहीं होता है बदलाव होता है या नहीं होता है ये बदलाव तो होता है सतुरस ये बदलाव होता है तभी तो ये सारा जगत बन गया है है तो नित्य वो अविभाज्य कण है लेकिन उसमें बदलाव होता है या नहीं होता है बदलाव होता है तभी ये सारा संसार बना तो बोले गति योग होने पर भी गति मतलब परिणमन गति होने पर भी बदल जाता है बदल बदल करके ये सब चीजें बन जाता है तो गति का योग है तो जिस जिसमें परिणाम होता है बदलाव होता है वो नित्य होता है या नित्य होता है जैसे फल है रखा हुआ रखा पक जाता है अधिक और फिर गल भी जाता है तो जिसमें परिणाम होता है वो नित्य होता है नित्य होता है सब्जी सड़ जाती है रोटी सूख जाती है दूध खराब हो जाता है परिणाम हो जाता है गुड़ में दुर्गंध आ जाती है औषधियों में दुर्गंध आ जाती है परिणाम होता है बदलाव होता है जिस जिस में परिणाम होता है वह वह अनित्य होता है यही तो समझा पाए ना हमने नहीं ऐसा ही तो होता है ना कपड़ों में परिणाम होता है पतले हो जाते हैं कमजोर हो जाते हैं घड़े में होता है मकान में होता है सब जगह लकड़ी में हमारे शरीर में जिस जिस में परिणाम होता है बदलाव होता है वह वह अनित्य होती है एक सामान्य रूप से हम यह मानते हैं स्थूल रूप से चलता भी है तक तो बोले प्रकृति परिणामी है या अपरिणामी परिणामी नहीं है परिणाम होता है उसमें बदलाव होता है तो बोले इसकी तो गति की श्रुति हो रही है गति का योग हो रहा है परिणमन हो रहा है तो गति का योग होते हुए वो आद्य कारण कैसे हो सकती है नित्य कैसे हो सकती है हो सकती है गति योगे भी आद्य कारणता अहानि उसके आद्य कारणता की हानि नहीं होती गति है लेकिन आद्य कारणता भी है उसकी कोई दोष नहीं है कैसे अणु अणु के समान जैसे अणुओं में भी परिवर्तन होता है लेकिन फिर भी उसकी आद्य हेतुता है प्रारंभ में माना जाता है स्थूल का उदाहरण दिया ये अणु वाला उदाहरण अंतिम उदाहरण नहीं है पूरा पूरा नहीं घटेगा लेकिन एक समझाने के लिए दूरदर्शन व्यास भाष्य में भी अंतिम सूत्र से पहले वाले सूत्र भाष्य में उन्होंने तो कहा नित्यता दो प्रकार की होती है एक कुटस्थ नित्यता और एक परिणामी नित्यता कुटस्थ नित्यता चेतन आत्मा की परमात्मा की और परिणामी नित्यता गुणों की सत्वरस्तम की मूल प्रकृति की उनकी परिणामी नित्यता तो परिणमन होते हुए भी वो नित्य है परिणमन होते हुए भी उनकी आद्य कारणता है इसलिए ये वाला जो तर्क है कि जो जो परिणामी होता है वह वह अनित्य होता है ये इस जगह तो नहीं लगता बाकी जगह तो घट जाता है यहां सापवाद है ये अव्यभिचरित नहीं है ये व्याप्ति कोई खंडित करे जानता है तो वो खंडित कर देगा इस व्याप्ति को जिसको नहीं जानता है वहां चल जाएगी ये व्याप्ति क्योंकि खंडन नहीं कर सकता दूसरा विचार नहीं दिखा सकता तो वहां तो चल जाएगी सामान्य लोगों में नहीं तो खंडित होती तो कहा गति योग भी गति का योग होने पर भी इसमें बदलाव होने पर भी आद्य हेतुता की हानि नहीं होती है अणु के समान सूत्र अड़तीसवा बोलिए प्रसिद्ध आधिक्यम प्रधानस्य न नियम अब इस संसार की आद्य था अणु को माने परमाणु को माने या प्रकृति को माने तो अणु को भी कहा जाता है प्रकृति को भी कहा जाता है आप सत्या प्रकाश में महर्षि दयानंद के वाक्यों को देखेंगे जहां कारण के रूप में कहा होगा तो प्रकृति और परमाणु दो शब्द वो साथ साथ लिखते हैं प्रकृति परमाणु प्रकृति परमाणु उपादान के रूप में केवल प्रकृति नहीं लिखते परमाणु भी साथ में लिखते हैं उसका कारण है जैसे यहां पर भी प्रकृति और परमाणु ये दो चीजें आ रही है हमारी परंपरा में ऐसा ही है वैशेषिक न्याय की दृष्टि से परमाणु मूल उपादान वो वहां तक की दृष्टि में और सांख्य और योग की दृष्टि से प्रकृति और विरोध नहीं है दोनों में परमाणु भी तो वैसे अनित्य है उत्पन्न होता है लेकिन एक दृष्टि से उसको नित्य उपादान मान लिया है जैसे यहां भी चल रहा है अनुभव उदाहरण दिया जा रहा है आद्य उपादान तक जबकि इनको पता है कि आद्य उपादान नहीं है तो वैसे जहां जहां प्रकृति और परमाणु ये जो दो शब्द लिखते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि प्रकृति के परमाणु या तो प्रकृति भी परमाणु रूप है आंख्य योग की दृष्टि से प्रकृति को और न्याय वैशेषिक की दृष्टि से परमाणु को दोनों का कथन एक साथ कर रहे हैं बस जैसे यहां पर है तो इसमें प्रधानता किसकी है तो बोले प्रसिद्धाधिक क्या प्रधान से प्रसिद्ध कौन है मूल उपादान के रूप में ये प्रधान यानी मूल प्रकृति ये अधिक प्रसिद्ध है मूल उपादान के रूप में इसलिए न नियम ये नियम नहीं होता कि इसमें अणुओं की भी हम आद्य कारणता माने कोई कह के फिर तो अणुओं की भी आद्य कारणता मानो और प्रकृति की भी मानो दोनों की आद्य कारणता मानो बोले नहीं प्रधान की प्रसिद्धि अधिक है इसलिए आद्य कारणता तो हम प्रकृति की ही मानेंगे वास्तव में वही उसी की आद्य कारणता है वही आदि उपादान कारण अब आगे सतुर स्तंभ के बारे में बता रहे जैसे हमने पीछे देखा था प्रीति अप्रीति विषाद्यात्य इनमें आपस में धर्म है गुणों का लघुवादी गुणों की भिन्नता है तो वहां हम गुण और गुणी में भेद मान करके कथन कर रहे थे समझने के लिए लेकिन तत्वतः क्या है उसको यहां पर बता रहे बोलिए सत्वादी नाम अतत धर्मत्व तत्व रूपत्व ये जो सत्वादी हैं इनका अतत धर्मत्व है यानी इनमें अन्य कोई धर्म नहीं है अलग से नहीं है कि सत्व में ये धर्म है इसमें ये धर्म है ऐसा नहीं तद्रूपत्वात उनके तद्रूप यानी उन धर्म वाला होने से जैसे चेतन के लिए कहा था उन्होंने न चित धर्म चिद्रूपत्वात चित धर्मा नहीं है आत्मा चिद्रूप ही है ऐसे ही इन गुणों के लिए कहा जा रहा है कि ये उन धर्मों वाले नहीं है ये तत्रूप ही अभेद की दृष्टि से कथन है गुण गुणी में अभेद की दृष्टि से कथन और दूसरा इस सूत्र का एक और अर्थ लिया जाता है कि जो ये कहते हैं कि सत्वर स्तंभ तो धर्म है प्रकृति के सत्वर स्तंभ प्रकृति के धर्म है प्रकृति है धर्मी तो मतलब सत्वर स्तंभ गुण है जो गुण और द्रव्य की चर्चा है पीछे भी आपके सामने रखी थी ये सतुर स्तंभ क्या है गुण है या गुणी है तो जो गुण मानते हैं उनकी दृष्टि से यह है कि सत्वादी नाम अतत धर्मत्व ये धर्म नहीं है किसी के तदरूपत्वाद ये खुद प्रकृति है ये खुद प्रधान है ये सत्वर स्तंभ गुण नहीं है ये खुद गुणी है ये भी इस सूत्र का अर्थ लिया जाता है ये भी एक सिद्धांत निकाल सकते हैं हो गया अगला सूत्र बोलिए अनुपभोगे भी उमर्थम सृष्टि प्रधान से उष्ट्र कुमकुम वहनवत पहले भी ये बात आई है उसको केवल कह रहे हैं और अंतिम रूप में जा रहे हैं तो अनुपभोगे भी उपभोग ना करने पर भी ये प्रकृति प्रधान सत्वर ये अपने लिए कुछ भी उपभोग नहीं करते उपभोग ना करते हुए भी तो इसकी सृष्टि क्यों है बोले पुमर्थम पुरुष के लिए आत्मा के लिए आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि के लिए किसकी प्रधान से तो प्रधान से सृष्टि अनुपभोगे भी कुमर्थम स्वयं अपने भोग के लिए न होते हुए भी आत्मा के लिए एक बात अब इसके लिए उदाहरण दिया तो पहले भी आया था उष्ट्र कुमकुम वहनवत जैसे ऊंट केसर का वाहन करता है तो वो केसर ऊंट के लिए नहीं होती अनुपभोग होते हुए भी वो दूसरों के लिए मनुष्यों के लिए उसका वहन करता है ऐसे ही ये प्रकृति भी प्रधान भी अपने लिए ना होते हुए भी चेतन के लिए इस कार्य को करती है ठीक है आगे देखिए बोले इस सृष्टि की विचित्रता क्यों है ये सृष्टि पुरुषों के लिए है आत्मा के लिए है भिन्नता क्यों है अलग अलग क्यों कर रही है अलग अलग निर्माण क्यों कर रही है शरीर आदि का उसका उत्तर है इकतालीसवां सूत्र बोलिए कर्म वैचित्र सृष्टि वैचित्र ये सूत्र पहले भी आता है ये सृष्टि की विचित्रता क्यों है कर्म की विचित्रता के कारण यानी कर्म की विचित्रता कारण है और सृष्टि की विचित्रता उसका कार्य है कर्म के भेद के कारण से रचना का भेद है होता है ये अलग अलग आत्माओं के अपने जैसे कर्म है उसके अनुसार सृष्टि की विचित्रता वहां पर देखी जाती है ठीक है तो कर्म को मानते हैं आत्मा को भी मानते हैं कर्म फल भोगने वाला आत्मा है ये भी मानते हैं पीछे भी आता है यहां भी योगी झलक मिलेगी अब इस प्रकृति का जो प्रधान की है इसकी दो स्थितियां दोनों में कुछ न कुछ कार्य क्रियाएं होती हैं तो कौन से हैं तो बोल रहे हैं बोलिए साम्य वैषम्याभ्याम कार्य तो इस प्रधान के दो कार्य हैं एक साम्य और वैषम्य के द्वारा साम्य होता है तो विनाश वाला कार्य होता है प्रलय का कार्य होता है और जब वैषम्य होता है तो निर्माण का कार्य होता है जब साम्य होता है तो नाश का कार्य होता है और जब वैषम्य होता है तो निर्माण का कार्य होता है ठीक है तो हमें अपने मन को सम रखना चाहिए या विषम रखना चाहिए सम है तो नाश का काम बनेगा <laughs> क्या है ना बेटा और होगा तो निर्माण का रचना का काम होगा ठीक है तब आप ही तदरूप था पंकज कुछ का कुछ अर्थ ले वहां लिखा है देखो सम शब्द लिखा है साम्य और वैषम्य और दो प्रकार का है जो जो सम स्थिति में रहते हैं उनका क्या होगा ना और जो जो विषम स्थिति में रहते हैं उनका क्या होगा निर्माण करेंगे जो तो जो विषम स्थिति में रहते हैं राग और द्वेष में तो उनके लिए सृष्टि का निर्माण हो जाएगा सृष्टि का है था तो ना राग विराग और योगा सृष्टि आप में से बहुतों का ध्यान इस सूत्र पर नहीं गया प्रश्न में सृष्टि पूछा था तो बहुतों ने तो सृष्टि रचना पूरी लिखी है उतना ठीक है लेकिन इस सूत्र पे ध्यान नहीं गया राग विराग और योग सृष्टि मुख्य उत्तर ये था उसका जब वैषम्य होगा यानी राग और द्वेष होंगे तो सृष्टि चलती रहेगी और जब सम स्थिति बन जाएगी तो नाश होगा किसका सृष्टि क्या हो जाएगी मुक्ति हो जाएगी तो साम्य वैषम्य अभ्याम कार्य ये तो खैर प्रकृति के बारे में कहा गया मैं तो इससे दूसरे तात्पर्य ले रहा था लेकिन यहां तो प्रकृति के बारे में ही कहा गया आगे देखिए अगला सूत्र बोलिए विमुक्त बोधात न सृष्टि प्रधान से लोकवत जो विमुक्त हो गया है मुक्त हो गया है उसके बोध के कारण से उसने जान लिया है सृष्टि को इसीलिए तो विमुक्त हुआ है वो जिसने सृष्टि को प्रकृति को जान लिया वो विमुक्त हो ही जाएगा नहीं जाना है इसीलिए पूरा नहीं जाना है इसीलिए तो विमुक्त नहीं हो रहा है तो विमुक्त बोधार्थ न सृष्टि प्रधान से फिर उसके लिए प्रधान की सृष्टि नहीं होती वो उसके लिए शरीर नहीं बनाती लोकवत लोक के समान पीछे भी उदाहरण आए थे और योग दर्शन में भी जैसा कहा कृतार्थम प्रति नष्टम तो कृतार्थ हो गया उसके प्रति ये सृष्टि नष्ट हो जाती है उसके लिए शरीर नहीं बनाती नष्टम अपनी अनष्टम तदन्य साधारण अन्य लोग जो हैं उनके लिए तो सृष्टि बनती रहेगी तो वही बात यहां पर है विमुक्त बोधात् न सृष्टि प्रधान से लोकवत जैसे लोक में कोई किसी ने भोजन आदि कर लिया है तृप्त हो गया है तो अब उसको भोजन नहीं कराया जाता एक खा चुका है भोजन तृप्त हो गया है अब खाने से मुंह फेर लिया है इसने अब उसको नहीं खिलाते भूखे को ही खिलाते इच्छुक को ही खिलाते अब ये तो इच्छुक रहा नहीं अनिच्छुक हो गया अब इसको प्रकृति घोषणा नहीं कराई अगला सूत्र देखिए बोलिए न अन्य उपसर्पणे भी मुक्तोपभोगो निमित्त अभाव अन्यो अन्योपसर्पणे भी प्रकृति अन्यों के लिए भी उपसर्पण करती है प्रकृति अन्यों के लिए भी उपसर्पण करती है यानी उनको अपनी उनकी तरफ जाती है उनको भोग प्रदान करती है उपसर्पण करती है तो वो होते हुए भी ना मुक्तो को भोग मुक्त के लिए वो भोग नहीं होता है मुक्त के लिए उपसर्पण नहीं करती है क्यों नहीं होता है मुक्त का भोग अभी प्रकृति तो सबका जीवों का बद्धात्माओं का भोग करा ही रही है तो उस बीच में मुक्त को बोध मुक्त के लिए भोग क्यों नहीं हो जाता है सृष्टि तो करा ही रही है भोग बोले निमित्त का भाव आत्मा निमित्त का अभाव है भोग कैसे कराएगी निमित्त मतलब एक तो शरीर नहीं है पहली बात और शरीर हो भी जाए तो अविवेक नहीं है कैसे भोग कराएगी कैसे उसको कराएगी तो निमित्त ही नहीं है इसलिए प्रकृति सबके लिए कुछ भी बनाती रहेगी लेकिन उसको कुछ नहीं करेगी अब पुलिस वाले भले ही कितने घूमते रहे इधर उधर इसको पकड़ रहे हैं उसको पकड़ रहे हैं लेकिन जहां निमित्त नहीं है जिसने अपराध नहीं किया है तो उसको नहीं पकड़ेंगे अच्छी सच्ची पुलिस की बात कर दयाकारी राजा की बात कर रहा वो दूसरे को नहीं पकड़ेगा उन्हीं को पकड़ेगा जहां दोष है क्योंकि दूसरे में निमित्त का अभाव है उसने यातायात के नियम का भंग ही नहीं किया है तो उसको वो नहीं पकड़ेगा ठीक है मुक्त तो होना है हमारे को मना कर रहे हैं हमारे को कितने मिनट का है हैं तो फिर तो चलो चलो उसको लिख लेना जो मैं भी बोल रहा हूं संपादन का अगला सूत्र देखिए बोलिए पुरुष बहुत्वम का पुरुष कितने हैं चेतन कितने हैं तो बोले पुरुषों का बहुत्व है अनेक है कैसे पता लगता है व्यवस्था से भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं हैं ये सुखी है ये दुखी है ये ज्ञानी है ये अज्ञानी ये व्यवस्था अलग अलग एक जैसा नहीं है भिन्नताएं जो देख रहे हैं इससे पता लगता है कि पुरुष बहुत सारे हैं जो लोग एक ही पुरुष को एक ही चेतन मानते हैं उनकी दृष्टि से ये निषेध है कि पुरुष का बहुत ये तो पुरुष का बहुत ही मानते हैं पुरुष अनेक है जीवात्माएं अनेक है और उसका कारण है व्यवस्था यहां पर देखी जाती है तो पुरुष बहुत्व व्यवस्था आता है जब एक ही पुरुष को मान करके और कहते हैं कि उसी के अंश हैं सब अथवा एक ही चेतन को मानते हैं दो चेतन है ही नहीं अद्वैत ही मानते हैं बस उसका निषेध है पुरुष का बहुत्व होता है क्योंकि व्यवस्था देखी जाती है अब इस पर दूसरा कहता है कि भाई व्यवस्था तो वैसे भी हो सकती है पुरुष तो एक ही मानेंगे चेतन तो एक ही है लेकिन व्यवस्था क्यों हो रही है ऐसी उसके लिए पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहे तो देखिए छियालीसवा सोचना बोले उपाधि चेत तत्सिद्ध पुनर्द्वैता कोई कहे कि नहीं उपाधि के भेद से ये व्यवस्था का भेद है ये अंतकरण और शरीर यहाँ है इसलिए यहाँ भिन्नता है उधर भिन्नता है जैसे कि आकाश तो एक है लेकिन घड़े में हो तो अलग और बड़े घड़े में हो तो बड़ा और छोटे में कुल्लड़ में हो तो छोटा और मकान में हो तो अलग एक होते हुए भी उपाधि के भेद से उपाधि मतलब ये जो आवरण बाहर की चीज है शरीर आदि और अंतकरण मन आदि इनके भेद से ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं है तो एक ही वास्तव में ठीक तो है अगर कोई उपाधि के भेद से इसकी सिद्धि करने लगे व्यवस्था की सिद्धि करने लगे तो बोले द्वैत तो फिर भी आ गया आपका सिद्धांत तो खंडित हो गया आप तो एक ही मानते थे ना अद्वैत ये उपाधि कहां से आ गई है आप अपने सिद्धांत के विपरीत जाकर के कोई बात सिद्ध नहीं कर सकते ये इस बात का द्योतक है कि आपका पिछला सिद्धांत ठीक नहीं था आप ब्रह्म को एक ही मानते हुए फिर व्यवस्था में भेद दिखाओ दूसरी चीज को नहीं लाओ आप आप दिखा नहीं सकते आपको भेद दिखाना है तो आप उपाधि लेके आ गए तो आपका मूल सिद्धांत तो चला गया अद्वैत कारण पुनर्द्वैतम दो तो फिर भी हो जाएंगे इसलिए आप ऐसे सिद्ध ही नहीं कर सकते कि उपाधि के भेद से ये व्यवस्था है ये तो वास्तव में ही भेद है जीव सब अलग अलग तो आज का पाठ इतना ही करते हैं अभी Oh.